राजा धनोट प्रणाम पार्थ हेलो हाँ प्रणाम जी कौन समीर हाँ समीर हेलो हाँ हाँ प्रणाम जी समीर भाई बोलिए हाँ समीर भाई સાંભળ્યો ભાઈ हाँ हाँ हाँ ठीक से चलो पार्थ उतारो जो क्वेश्चन कदर ब्रिजेश भाई पार्थ बनने में किसी का क्वेश्चन था आप लोगों को पूछना होता है डिस्कस करेंगे उसको राजा क्वेश्चन बोल दू मैं हाँ नहीं क्वेश्चन दो थे जो हमने धर्म का किया उसमें एक तो प्रश्न ऐसा था कि जो आपने बता दिया कि ब्रह्मा जी अपूजनीय है तो उनका पूजन नहीं हो सकता है और वो को शाप मिला था वगैरह कोई वार्ता में कोई प्रसंग भी आता है तो आपने बता दिया था आ, हम्म। पर दूसरा प्रश्न ये था कि जो शिव को शिव को बचते हैं वो क्या तामस गुण प्रधान है वैसा मैंने पूछा था हाँ। और जो विष्णु को बचते हैं वो सात्विक गुण प्रधान है और जो रजस गुण प्रधान है वो किसका भजन करेंगे फिर तो हम्म। वैसा प्रश्न मैंने ग्रुप में डाला था तो वो आपने बताया था कि वो चर्चा करेंगे हम हाँ देखो इसमें ये बात है पहली तो कि हमने जैसे तीन संप्रदाय को डिवाइड किया तो हमारे यहाँ मैंने संप्रदाय बताया था कि ब्रह्मा जी का तो कोई संप्रदाय है ही नहीं तो वैष्णव शैव शाक्त और सौर्य जो सूर्य के भजन करते हैं ये चार पुराने संप्रदाय हमारे यहाँ मिलते हैं आगम तंत्रों में तो तीन ही है वैष्णव शैव और शाक्त लेकिन बहुत पुरानी हिस्ट्री मतलब पंद्रह बीस हजार सालों पहले की हिस्ट्री से सूर्य के पूजन की भी परंपरा मतलब उसके संप्रदाय भी भारत में प्रिवेल करते थे ऐसा हमें मिला भारत में बहुत सारी जगह सूर्य के मंदिर भी हैं बाकी जैसे हम कर्ण को देख लें पांच हजार वर्ष पहले या उससे भी पहले तो सूर्य का पूजन हुआ करता था ठाकुर जी के समय में भी बहुत सारे लोग सूर्य का पूजन करते थे तो वो संप्रदाय भी बहुत सालों से प्रिवेल हमारे यहाँ कर रहा है तो मुख्यतया ये चार संप्रदाय भारत में हमारे यहाँ है फिर ये संप्रदाय के विषय में मैंने बताया था अब उसमें क्या होता है कि सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार के जीव होते हैं जो अपनी चॉइस से मतलब चॉइस में क्या होता है कि जैसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हमारा एक स्वभाव बन जाता है और उस स्वभाव के अनुकूल ही हम बिहेव भी करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं ना कि इसकी तो ये आदत है इसका तो नेचर ही ऐसा है तो कहने का मतलब कि कोई गुण की प्रधानता हमारे अंदर होती है कि जैसे मैं सात्विक हूँ फॉर एग्जाम्पल या कोई राजस है कोई तामस है मेरे अंदर राजस्ता है तामसता है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, है क्योंकि हम सोते हैं तो तामस गुण के प्रभाव से ही सो पाते हैं हमारे अंदर किसी भी कार्य के लिए उत्साह आता है ज्यादा खुशी होती है या बहुत जोश आ जाता है अचानक से तो ये सब राजस गुण के कारण ही होता है इन दोनों की भी हमें आवश्यकता है पर सात्विक गुण किसी में ज्यादा होता है किसी में राजस बढ़ जाता है परसेंटेज वाइज थोड़ा हम देख लें तो कोई 60 40 हो जाए 70 30 हो जाए ऐसे कुछ भी पर कोई एक गुण अगर हमारे अंदर ज़्यादा काम करता है तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये सात्विक है ये राजस है ये तामस है ऐसा नहीं मानना है अब दूसरी बात कि जो देवताओं के लिए है कि शिव जी जो है वो तामस गुण के अधिष्ठाता देव है शिव खुद तामस नहीं है निर्गुण है उसी तरह ब्रह्मा जी जो है वो भी राजस गुण के अधिष्ठाता देव है पर वो खुद राजस नहीं है सेम वे विष्णु सात्विक गुण के अधिष्ठाता है खुद सात्विक नहीं है वो तो निर्गुण है तीनों तीन निर्गुण है उनमें कोई गुण नहीं है वो सभी गुणों से ऊपर उठ के हैं पर वो लोग जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति इस काम को संभालेगा कि तुम ये काम करो हम घर में सब लोग होते हैं तो सब काम डिवाइड हो जाते हैं कि तुम ये काम करोगे तुम ये काम करोगे उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान दूसरे काम नहीं कर सकता है पर उन कामों को डिस्ट्रीब्यूट हम कर देते हैं ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी कुशलता होती है कोई हम बोले कि तुम झाड़ू निकाल दो बरसों से तुम झाड़ू निकाल अब दूसरे को बोलोगे तो वो इतनी अच्छी झाड़ू नहीं निकाल सकता है या कोई रसोई करता है कोई कुछ चीज अच्छी बना लेता है कोई और चीज अच्छी बना लेता है पर हम जानते तो सब कुछ है हर चीज हम बना सकते हैं पर कुछ अच्छा बन जाता है कुछ गंदा भी बनता है और कुछ ठीक ठाक भी बन जाता है तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति में कोई गुण हंड्रेड परसेंट नहीं होता है seventy thirty sixty forty fifty fifty ऐसा कुछ भी हो सकता है अब जो गुण इन तीनों देवताओं में जिन देवताओं अधिष्ठाता है जो देवता जिस गुण के उनके आगम तंत्रों को हम अगर देखें रेफर करें थोड़ा बहुत उनकी पूजा उनका स्वरूप उनके भक्त उनकी पूजा की विधि या जो भी पूजा में उपयुक्त जितनी भी वस्तु देव को समर्पित की जाती है वो उस गुण के अनुकूल होती है वाइस वर्षा भी हम कह सकते हैं कि भक्त ही ऐसे होते हैं जो उस देव को पसंद करते हैं इसलिए वो सब उपयोग भी ऐसी चीजों का करते हैं पर हमारे आगम तंत्रों में नियम से देखो तो इन्हीं सब चीजों को देखा जाता है शिव जी के लिए जैसे देख लो जब सती ने शिव को पसंद किया कि मुझे इनसे शादी करनी है तो दक्ष को इसीलिए तो गुस्सा आ गया सती के पिता को कि भाई ये तो पूरे दिन स्मशान में बैठे रहते हैं वो मुंडों की माला पहनते हैं सांप लिपटे रहते हैं शरीर पे ऐसे व्यक्ति से तुम कैसे शादी करोगे मतलब ऐसा व्यक्ति संसारी कैसे बन सकता है वो किसी को फैमिली कैसे संभाल पाएगा वो शिव फिर से देखो शिव तामस नहीं है पर आगम तंत्रों में उनका स्वरूप जो दिखाया गया है या उनका पूजा का जो भी प्रकार है या उनके प्राय भक्त वो इस टाइप के होते हैं अब उनको भोग में मदिरा आती है उनको भोग राख का उनका तिलक होता है यज्ञ होते हैं तो बलि दी जाती है अब हाँ कोई सात्विक व्यक्ति उसे उसमें अच्छा नहीं लगेगा उसे ऐसा कैसे कर सकते हैं अब कोई तामस है व्यक्ति स्वभाव से तो इंटरेस्ट से वहां जाएगा वो ऐसे हमारे यहाँ देखो क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है वो अपने अनुकूल की वस्तु ढूंढ ही लेता है कहीं से भी ढूंढ लेता है पुष्टि मार्ग में भी ऐसा होता है हमारे यहाँ बहुत लोग दाऊ जी की सेवा करते हैं दाऊ जी मतलब बलदेव जी की ठाकुर जी के भाई उनकी भांग के लिए सेवा होती है जब मुझे भांग पसंद है कुछ भी हो अन्न कैसे ले सकते हैं तो दाऊ जी को तो भांग भोग आती है इसलिए वो इंटरेस्ट से उनको भोग दर के फिर तो अब तो ले सकते हैं तो कहने का मतलब ये कि हमारा स्वभाव अगर तामसी है तो पुष्टि मार्ग में आगे भी इन सब चीजों को लोग ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से कि हमें हमारे अनुकूल क्या मिलेगा तो ये बात समझ लें कि हम जब भी कोई व्यक्ति देव की सेवा या देव को पसंद करता है कि हमें इनकी पूजा करनी है मुझे इनकी सेवा करनी है देखो परंपरा की बात और होती है कि हमें कुछ पहले से मिल गया घर में शिव जी की ही पूजा होती जा रही है वो एक अलग बात है पर जब अट्रैक्शन होता है किसी के लिए तो अपने स्वभाव के अनुकूल ही होता है अब शिव जो तामस व्यक्ति है उसे विष्णु की सेवा में इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वहां सब कुछ सात्विक चलता है देखो हमारे यहाँ भी क्या होता है जैसे कोई पुष्टि मार गया हमारे यहाँ ठाकुर जी को मिर्च भोग नहीं आती है नियम से ठाकुर जी को कभी मिर्च बिल्कुल भोग आ ही नहीं सकती है काली मिर्च कर सकते बाकी हरी और लाल मिर्च प्रभु को भोग नहीं आती है बाहर से मिलाते हैं बाहर चौंक होता है फिर मिक्स हो जाता है परंपरा से फ्लावर है फिर जो गाजर है टमाटर है इन सब चीजों को नहीं खाया जाता है ठाकुर जी को नहीं आता है बाहर सब खाते हैं अब ये सब क्या है कि हम हमारे स्वभाव के अनुकूल उन सब चीजों को ढूंढ रहे हैं बाकी विष्णु की सेवा में जिन चीजों का उपयोग नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है पर अब हमसे नहीं रहा जाता उसका क्या करें तो ऐसा सब हो जाता है कहने का मतलब कि जो हमारा स्वभाव होता है सात्विक हो राजस हो या तामस हो तो हम अपने अनुकूल कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं अब वो इस बहाने वो किसी भी बहाने से भी व्यक्ति कहते हैं ना उसमें जुगाड़ बैठाता है तो ये सब जुगाड़ बैठते हैं इस तरीके के तो ये हमारे स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है हम स्वाभाविक है हम ऐसा नहीं है कि तुम्हें बताना पड़े वो व्यक्ति अपने आप उन चीजों में अट्रैक्ट हो जाता है अब जो दूसरा पहली बात तो ये कि संप्रदाय ऐसे अलग अलग स्वभाव के लोगों के अनुकूल कुछ कुछ बातों को हमारे संप्रदायों में शास्त्रों में बताया गया है बहुत से शास्त्रों में जब यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें बलि का भी विधान आता है अब यज्ञ जो है वो लोग फिर क्या करते हैं बलि तो ठीक है वो तो जो भी दिया जाए वो दिया जाए पर फिर ब्राह्मण लोग जैसे कलकत्ता वगैरह जाओ तो सब ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता जो मछली वगैरह ना खाता हो कलकत्ता में सब खाते हैं क्योंकि काली की पूजा करते हैं महाकाली की पूजा करते हैं उसको तो भोग ही वो आता है तो वो प्रसाद खाते हैं दूसरी बात तुम्हें शास्त्र में लिखा हुआ वहाँ की काली के तो वही भोग चढ़ता है काली और माता काली को क्या खून ही तो भोग आता है उनको हाँ, तो परंपरा से ऐसा ही हो रहा है शास्त्र संप्रदायों में ये बात बताई भी गई है शास्त्रों में आगम तंत्र अच्छा, तो ये क्या होता है फिर अब तुम्हें काली पसंद नहीं है पर क्योंकि वो खाना है इसलिए अब काली की पूजा करो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया कि अब पुष्टिमार में बलदेव जी की पूजा क्यों होती है सेवा क्यों होती है अब वान के लिए होती है समर्पित नहीं गा सकते हैं तो भोग दर के ठाकुर जी को नहीं आ सकता है तो दाऊ जी को धरो <laughs> पुराने बहुत से घरों में कृष्ण की सेवा के साथ साथ दाऊ जी के स्वरूप भी विराजते हैं अब महाशिवरात्रि के दिन मांडवी में हमारे यहाँ इंटरेस्ट नहीं होता ज्यादातर लोग रोज की आदत नहीं होती महाशिवरात्रि के दिन भांग का प्रसाद मिलता है अब मुझे अभी तक याद है मेरे क्लास के सब लोग स्कूल से छुट्टी लेके वो भांग पीने के लिए वहां जाते क्योंकि पूरे साल तो तुम्हें कोई वो पीने नहीं देगा क्योंकि वो तो गंदी चीज है पर महाशिवरात्रि का तो प्रसाद के रूप में मिलता है तो ले सकते हैं तो खास करके सब स्कूल से रिसेस में छुट्टी लेके सब महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में लाइन लगती भांग के प्रसाद के लिए तो ये सब क्या होता है कि हमारा स्वभाव वहाँ पे हमारा जो स्वभाव है हमारे जो गुण है वो उन चीजों को पसंद करते हैं तो स्वाभाविक अट्रैक्शन होता है तो संप्रदायों के साथ ये बात है क्योंकि उस देव की पूजा विधि उस देव का जो भी क्रिया कांड कर्म उस देव का स्वरूप वो सब कुछ उन गुणों के अनुरूप होता है ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वो तीनों देव इन सबसे ऊपर है वो सब देव निर्गुण है वो सात्विक राजस्व तामस नहीं है उनके भक्त सात्विक राजस्व तामस होते हैं और उनके अनुकूल ही आगम तंत्रों में हमारे यहाँ सब स्वभाव के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का पूजा विधि वगैरह बताई गई है देव मतलब निर्गुण है साथ शिव तामस नहीं है तामस गुण के अधिष्ठाता है वो तो प्रभु ने ही दिया है इसलिए वो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी कि हम घर में कोई व्यक्ति को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि तुम ये काम करो अब वो उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता ऐसा नहीं है पर वो वो एक काम बहुत अच्छे से करता है तो हम बोलते हैं कि तुम अब ये कर लिया करो और काम उसे दे दो तो कर लेगा पर इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा उस तरह अब शिव जी के लिए ये बात नहीं है बालबोध में महाप्रभु जी ने बातों को क्लियर किया है कि कोई भी देव क्योंकि भगवान के अंश है तो वो उनमें असमर्थता कैसे हो सकते हो तो सब कुछ कर सकते हैं पर ठाकुर जी ने कुछ कामों को डिवाइड कर दिया कि तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है तो उस हिसाब से ये तीनों देव अपना अपना कार्य करते हैं अब उन ये संप्रदाय हमारे यहाँ तीन अलग अलग हर स्वभाव के जीव के लिए प्रकट किए गए हैं जैसे मैंने बोला कि तुम तामस हो तो तुम सात्विक में कभी भी सेट नहीं हो सकते जैसे हमारे यहाँ कृष्ण की सेवा बताई विष्णु का स्वरूप है हमारे यहाँ जो भी पूजा सेवा वगैरह का क्रम है वो सब भी ऐसा होता है अच्छे से होता है इन सब गंदी चीजों का उपयोग हमारे यहाँ नहीं है क्यों जैसे डूंगी लहसन वगैरह है वो लोगों हमें क्यों पसंद आते हैं हमारे मन में तामसता भरी हुई है हमारा स्वभाव तामसता का है बाकी वो चीज पसंदी है बहुत से लोग तो होते हैं ना परिवार में भी क्या होता है माता पिता को पसंद है बच्चे को वो अच्छा नहीं लगता है घर में खा तुम्हें मना कोई नहीं कर रहा है पर बहुत सी फैमिली में ऐसा होता है कि घर के कोई कोई मेंबर वो सब चीज नहीं खाते हैं उसमें क्या है कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है कि तुम ये चीजों को खा पाओ अब वो तुम डोंगड़ी लहसन क्या मना करो तो फिर लोग मूली खाते हैं मूली वही चीज है वो भी तो तामस है वो भी तो इतनी गंदी चीज है पर वो स्वभाव ऐसा है तो हम क्या करें कहने का मतलब ये है कि हर स्वभाव का व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल चीज को ढूंढता है और उसे अपने हिसाब से सेट कर ही लेता है जैसे मैंने बोला कि पुष्टि मार्ग में आके भी तुम तामस हो तो तुम्हें फिर वो तो तुम्हें कहीं से कहीं से हमने वो निकाल ही लिया कि ये चीज हमें कैसे मिले अब एक एग्जाम में बताऊ एक बार हमारे ऐसे हुआ काका की शादी हुई तब एक गोस्वामी बालक मांडवी आए थे क्यों आए थे उनको भांग पीने की आदत उनके घर में दाऊजी नहीं बिराजते थे हमारे मांडवी में बिराजता था दाऊजी का स्वरूप दाऊजी पधराने के लिए मांडवी आए थे क्या अब इनको प्रसादी करके फिर भांग ले लेंगे तो दाऊजी का स्वरूप पधराने के लिए शादी में आए थे और फिर बहुत आग्रह कर करके क्योंकि हमारे यहाँ तो सेवा का प्रकार था नहीं स्वरूप बिराज रहे थे इसलिए साइड में बिराजते थे और स्नान वगैरह का क्रम हो जाता था तो वो फिर वो बालक पधरा के गए दाऊ जी को ये क्या है कि पुष्टि मार्ग में तुम आ गए हो फिर भी तुम्हारा स्वभाव तामसी है तो तुम कहीं से भी कहीं से पुष्टि मार्ग में आके भी अपने हिसाब से उस चीज को सेट कर रहे हो तो ऐसा हर संप्रदाय में होता है बहुत से लोग होते हैं तुम सामान्य अपन आस पास हमारे देखते हैं बहुत से मुस्लिम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं मना कौन कर रहा है उन्हें घर में पहले से उन्होंने देखा ही है माता पिता सब खाते हैं बचपन से उन्होंने भी खाया होगा पर बहुत से होते हैं क्रिश्चियन होते हैं मुस्लिम होते हैं बहुत से लोग होते हैं जो ये सब चीजें नहीं खाते स्वभाव का कारण है तुम्हें तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है तो तुम इन चीजों को नहीं खा सकते हो जो तामस गुण प्रधान वस्तु है तो यही बात यहाँ समझनी चाहिए कि अलग अलग स्वभाव के लोग सृष्टि में प्रभु ने जब बनाए हैं तो उन सबको उनके अनुरूप कुछ कार्य प्रभु ने संप्रदायों के रूप में दिया कि अगर तुम्हें भी तो वो लोग भी तो मुक्त होना चाहेंगे उन्हें भी तो कोई उद्धार का उपाय चाहिए तो उनके स्वभाव के अनुकूल प्रभु ने अलग अलग संप्रदाय उत्पन्न किए हैं इसमें समझना ये कि इसलिए हमें एक दूसरे के संप्रदाय में मिक्स नहीं होना चाहिए और तुम नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट उस जगह बैठेगा ही नहीं जैसे मैंने बोला कि ये गलती से ये लोग ऐसे तामसी लोग पुष्टिमार में घुस आते हैं और फिर दूषण हमारे मार्ग में इस तरह से फैलते हैं दाऊ जी की सेवा का या भांग वगैरह पीने का या उनको भांग वगैरह भोग आना वगैरह तो ये सब क्या है कि तुम्हारा स्वभाव उसके अनुकूल नहीं है पर तुम अब आ गए हो तो क्या करें आने के बाद तो कुछ ना कुछ तो सेट करना ही है तो ये बात है कि हर संप्रदाय जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं या पूजा विधि वगैरह के क्रम हमारे शास्त्रों में जो भी बताए गए हैं वो अलग अलग स्वभाव के लोगों के अनुकूल ही संप्रदायों को हमारे यहाँ बताया गया है कि जो हम स्वभाव हमारा जैसा स्वभाव है उसके अनुकूल हमें कोई संप्रदाय मिल जाए तो उस संप्रदाय में हम अच्छे से सेट हो सकते हैं और उस देव का भजन भी हम अच्छे से कर सकते हैं जैसे मतलब मिसमैच हो जाना चाहिए तो इसलिए ऐसे अलग अलग संप्रदाय हमारे यहाँ बनाए गए हैं इसलिए वो विभाजन करना नहीं है हमारे जैसे आग, पिछले हमने पैराग्राफ में देखा कि संप्रदाय समाज की एकता को तोड़ते हैं या धर्म जो है वो लोगों को डिवाइड करते हैं ऐसा नहीं है तुम्हारा स्वभाव ही अलग है तो तुम चाहो तो भी उसमें सेट नहीं ही हो सकते हो बहुत से लोग आप लोग मैंने पिछली क्लास में तीन स्ट्रीम का एग्जाम्पल दिया था साइंस कॉमर्स और आर्ट्स अब तुम कॉमर्स के स्टूडेंट जिसको कॉमर्स में इंटरेस्ट हो उसे तुम साइंस में भेजोगे तो क्या करेगा वहां जाके बहुत से स्टूडेंट होते हैं साइंस में देखा देखी में घुस जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि तुम उसमें सेट नहीं हो सकते तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप ही नहीं हो सकता है वो मिसमैच हो गया है ये सब कुछ तो ऐसी परिस्थिति में तुम इन्फ्लुएंस से या मेरा दोस्त साइंस में जा रहा है मुझे भी जाना चाहिए सब चाहते हैं हम भी डॉक्टर बने हम इंजीनियर बने तुम्हारा स्वभाव नहीं है तुम कैसे बनोगे फिर पछताना पड़ता है या पीछे जाके और फिर टेढ़े रस्ते जो डिग्री वगैरह की चोरी ये वो जो कुछ भी होता है वो सब इसका परिणाम है क्योंकि हमारा स्वभाव वो नहीं है हम कुछ और चाहते हैं पर गलती से घुस आए हैं अब कुछ तो करना ना आ गए तो क्या करें कॉपी वगैरह करना है एग्जाम में या इन सब ये जो भी प्रॉब्लम्स है कि इतना इतना डोनेशन दो तो तुम्हें डिग्री मिल जाएगी तुम्हें एग्जाम में पास कर दिया जाएगा इतना पैसा खवा दो प्रोफेसर को इतने पैसे तो सब क्यों करना पड़ता है क्योंकि तुम उस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के स्टूडेंट नहीं हो प्रूव होता है कि नहीं होता है और ऐसा एक दो का नहीं है हमारे कितनी संख्या होती है हर क्लास में चार पांच स्टूडेंट से ज्यादा ऐसे नहीं होते हैं कि जिन्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो ये प्रॉब्लम इसलिए तुम अपने हिसाब से सोच समझ के स्ट्रीम इसीलिए पसंद कर लीजिए कि तुम्हें बाद में पछताने का चांस ना हो संप्रदाय भी वही चीज है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है तुम्हें कहाँ अच्छा लग रहा है उन सब चीजों को देख के उसके बाद संप्रदाय पसंद करके फिर उसमें तुम्हें दीक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए नहीं तो ये मिसमैच फिर गलत रिजल्ट देते हैं जैसा मैंने पुष्टि मार्ग में एग्जाम्पल में बताया कि लोगों को ये गांव के गांव वैष्णव होने चाहिए वैष्णव की संख्या बढ़ती बढ़ती जानी चाहिए जबकि महाप्रभु जी कहते हैं कि पुष्टि मार्गीय जीव तो बहुत कम होते हैं बहुत कम मतलब करोड़ों में एक पुष्टि मार्गीय होता है अब तुम्हें लाखों लोगों को एक साथ गोसाई बालक ब्रह्म सबन देते हैं बोर्ड लगते हैं कि आज गोसाई बालक ब्रह्म सबन देंगे थोक बम लोग गांव के गांव वैष्णव हो रहे हैं अब ये सब क्या है कुछ लोगों का तो चलो बाद में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कुछ अच्छा संग मिल जाए या तुम तो असली में पुष्टि मार्ग जीव हो उसकी बात तो अलग है पर उसके अलावा के इतने सब लोगों का क्या होगा वह पुष्टि मार्ग में आके ये हालत खराब इसीलिए तो हुई है हर संप्रदाय की हालत इसीलिए खराब हुई है हमारी बात नहीं है हर धर्म में हर संप्रदाय में सेम प्रॉब्लम है केवल पुष्टि मार्ग ही इससे प्रदूषित हुआ है ऐसा नहीं है सब संप्रदाय की प्रॉब्लम है ये सब क्या है क्योंकि हम उस स्वभाव के जीव नहीं है जो स्वभाव उस मार्ग का है या जो उस देव का है तुम उसमें अब मैच हो ही नहीं सकते हो चाहो तब भी नहीं हो सकते हो तो इसलिए जो धर्म है या जो अलग अलग संप्रदाय हमारे यहाँ बताए गए हैं वो लोगों को डिवाइड करने के लिए नहीं है पर हमारे इंटरेस्ट के अनुकूल हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल अलग अलग संप्रदाय हमारे शास्त्रों में बताए गए इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि धर्म लोगों को डिवाइड करता है या संप्रदाय लोगों को डिवाइड करते हैं वो हमारी रुचि हमारे स्वभाव को ध्यान में रख के ही ठाकुर जी ने ये व्यवस्था हमारी बनाई है वर्ण है ना तो, तो वो स्वभाव वही तो बात है कि जो तुम्हारा वरण है जिसलिए प्रभु ने तुम्हें भेजा है वही तुम्हारा स्वभाव भी बनेगा अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद वो दिखाता है जब आएगा तब आएगा तब आएगा आपने बोला था ना उस दिन साधन वर्ण हाँ तो यही कहने की बात है कि शास्त्र में जो संप्रदाय बताए गए हैं वो लोगों को विभाजित करने के लिए नहीं है पर जैसे साइंस कॉमर्स और आर्ट्स लोगों की रुचि से अपनी स्ट्रीम तुम्हारी इंटरेस्ट की तुम पढ़ाई कर सको इसलिए हमारे यहाँ ये स्ट्रीम बनाई गई है अब उसके बाद अब होम साइंस है फाइन आर्ट्स ये सब भी तो पढ़ाई शुरू हुई है कि किसी को साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों पसंद नहीं है ऐसे भी तो लोग होते हैं तो तुम होम साइंस कर सकते हो तुम फाइन आर्ट कर सकते हो तुम डिप्लोमा कर सकते हो या और भी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह क्यों वो क्यों बनाए गए क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग है तुम कुछ और और पढ़ना चाहते हो तो ये सुविधा अब लोगों को डिवाइड करता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स इस पर भी तुम रोक लगाओ स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं सब अलग अलग हो जाते हैं लोग में लघुता ग्रंथी आ जाती है कि साइंस वाले ऊंचे होते हैं आर्ट्स वाले छोटे होते हैं लड़ो अब उसके वो ना राजनेता क्यों नहीं बोलते हैं धर्म संप्रदाय में ये बात क्यों आती है जैसे पहले ही हमने देखा कि धर्म संप्रदाय भी धर्म पढ़ने के लिए स्कूल है जिसमें तुम अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के देव को पसंद करके और उस संप्रदाय में आगे बढ़ सकते हो इसलिए वो लोगों को विभाजित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं लेकिन हमारा स्वभाव हमारी रुचि हमारे इंटरेस्ट के अनुकूल अलग अलग प्रकार के जो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि कृष्ण ही सबसे बड़े हैं तो सब कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते नहीं कर सकते हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है व्यक्ति की रुचि जिसे शिव पसंद आएगा जो मन से तामसी है स्वाभाविक रूप से तामसी है कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है हर एक वैष्णव नहीं बन सकता है पूरा विश्व पुष्टि मार्गीय नहीं हो सकता है इन सब बातों को दिमाग से हमें सोचना चाहिए ये सारी मतलब ये प्रैक्टिकल इश्यू को लेके ये सब बात है कि ये सब गलत बात है कि हम ऐसा सोचें कि संप्रदाय लोगों को विभाजित करते हैं या धर्म लोगों को विभाजित करता है पर तुम्हारी जो रुचि है जैसे हम स्कूल में स्ट्रीम टेंथ के बाद स्टूडेंट पसंद करता है उसी तरह संप्रदाय पसंद करता है हमारे शास्त्र में ये ही रीत थी कि तुम कुछ सालों तक सपंच देव की पूजा करो सब देवों की पूजा करो फिर तुम्हें कोई देव अगर ज्यादा पसंद आ जाता है तो फिर तुम उस संप्रदाय में एंटर करो और दूसरे सब देवताओं का पूजा बंद करके उस देव को पकड़ के और उसी के संप्रदाय में आगे बढ़ो हमारे यहाँ रीत यही थी यही किया जाता था जैसे कि हम टेंथ स्टैंडर्ड तक सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर तुम्हें जो सब्जेक्ट उनमें से अच्छा ज्यादा पसंद आता है वो स्ट्रीम पसंद करके तुम आगे की पढ़ाई करते हो कॉलेज में भी यही होता है कि तुम बीए पढ़ते हो तो उसके रिलेटेड बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मास्टर्स में जब आते हो तो फिर पर्टिकुलरली केवल उसी सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है मास्टर्स में भी एक दो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते हैं तुम अगर पीएचडी पे जाते हो तो फिर केवल और कुछ भी नहीं क्योंकि तुम्हें वो ही पसंद है तो संप्रदाय भी उसी तरीके की एक पढ़ाई है कि जिसमें शुरुआत में सभी देवताओं को तुम देख सकते हो फिर तुम्हें जो देव पसंद आए जिसकी सेवा आप करना तुम्हें अच्छा लगे उस देव को पसंद करके संप्रदाय में आगे बढ़ा जाता है रीत तो यही है इसीलिए जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि बाद में जब हमारी सब व्यवस्था बदल गई पुष्ट मार्ग में जैसे परंपरा से हम लोगों को शरण दीक्षा जन्म से बालक को ही कंठी पहना दी जाती है और माता पिता ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छा वैष्णव बनाएंगे उसे वैष्णवता के संस्कार देंगे अगर वो पुष्ट मार्गीय जीव होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं तो वहां वो छूट जाएगा पर जैसे मैंने बोला था कि ब्रह्म संबंध उस व्यक्ति जब इंडिपेंडेंट हो जाए सोच समझदार हो जाए जब उसे वो मार्ग पसंद आने लगे जब सब बातों समझता हो जाए उसके बाद उस व्यक्ति को स्वतंत्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रह्म संबंध लेना चाहिए ब्रह्म संबंध कभी भी माता पिता को नहीं दिलाना चाहिए वो व्यक्ति खुद इन चीजों को पसंद करे पुष्टि मार्ग में भी यही होना चाहिए आइडियली यही महाप्रभु जी की व्याख्या है इसी चीज का आग्रह क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव तुम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा बच्चा आगे जाके वैष्णव ही बने हम कोशिश कर सकते हैं उसे वो माहौल दे सकते हैं संस्कार दे सकते हैं पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो चौरासी वैष्णव में पुरुषोत्तम दास शेठ की वार्ता में आता है कि उनका पुत्र जो था वो तामसी जन ओमलेट हुआ वैष्णव नहीं हुआ महाप्रभु जी के सेवक है पति पत्नी दोनों घर में सेवा कर रहे हैं पर उनके पुत्र तो मलेच्छ हो गया वो गंदा हो गया जिसने कृष्ण की सेवा नहीं की पुष्ट मार्गीय नहीं हुआ तो हम ऐसा कैसे एक्सपेक्ट करें कि हर जन्मता जीव या हमारे घर में आता हर मेंबर पुष्टि मार्गीय हो सब नहीं हो सकता हम कोशिश कर सकते हैं माहौल दे सकते हैं उसे सिखा सकते हैं पढ़ा सकते हैं उससे आगे क्योंकि प्रभु की इच्छा उस जीव के लिए जो होगी वही होगा उसका वर्ण नहीं है उसका स्वभाव नहीं है तो तुम चाहो कुछ भी करो वो नहीं कर पाएगा हर घर में ऐसा होता है घर के सब माता पिता सब वैष्णव बच्चे क्यों वैष्णव नहीं होते कभी कभी कमी संस्कारों में भी होती है माता पिता की भी गलती हो सकती है तो ज्यादातर क्या होता है कि तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा बच्चा है वो पुष्टि मार्गी ही होना चाहिए पर वो जीव पुष्टि नहीं है तो वो क्या करेगा उसकी गलती नहीं है उसमें माता पिता की भी गलती हो सकती है और कभी कभी हमारा वर्ण नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है तो ये पुष्टि मार्ग में हम जब अब पर्टिकुलरली हमारी बात करें तो पुष्टि मार्ग में आके इस ये सावधानी हमें रखनी चाहिए शरण दीक्षा हम दिला सकते हैं लेनी चाहिए अच्छी बात है बच्चे को जन्म से ही तुम कंठी दो उसे वो संस्कार दो कि भाई कंठी नहीं उतारनी चाहिए कंठी को नहीं तोड़ना चाहिए ये हमेशा पहनना चाहिए ये ठाकुर जी का नाम है ठाकुर जी का चिन्ह है तिलक लगाना चाहिए या इतने पाठ करने चाहिए ठाकुर जी मालिक है प्रभु की सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी के जनपद का नियम रखना चाहिए ठाकुर जी जो आरोपते हैं वही हमें खाना चाहिए माहौल दे सकते हो संस्कार दे सकते हो पर ब्रह्म सबन जो दीक्षा है वो व्यक्ति को पढ़ा के समझा के उसकी पर्सनली इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से एज ए इंडिविजुअल उसे लेना चाहिए तुम दिला नहीं सकते हो किसी को अपनी इच्छा हो उसे अच्छा लगे तो वह ले लेता पर जबरदस्ती करके तुमने भेज दिया या घर में बहू आई है तो ब्रह्म सबन तो दिलाना ही चाहिए ऐसी आग्रह नहीं रखना चाहिए महाप्रभु जी की बातों को समझना चाहिए कि तुम्हें कृष्ण पसंद है कृष्ण में तुम्हारी रुचि है कृष्ण को तुम परब्रह्म मानते हो तुम्हें कृष्ण फल चाहिए कृष्ण ही चाहिए तभी ब्रह्म संबंध लेना चाहिए बाकी ये दुराग्रह है ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट व्यक्ति का स्वभाव रुचि अलग अलग होती है तो उस हिसाब से जो उसका इंटरेस्ट है वो उसे कर देना चाहिए माता पिता जैसे अभी थ्री इडियट मूवी में यही तो बताया गया था बहुत सी मूवी आती हैं आजकल वो एजुकेशनल मूवीज में कि माता पिता को देखा देखा हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए बेचारा वो नहीं कर पा रहा है तो तुम क्यों जबरदस्ती उसे परेशान कर रहे चाहते हुए भी डॉक्टर नहीं बन सकते वो कैसे बनेगा वो डॉक्टर रुचि नहीं है उसका स्वभाव ही नहीं है ऐसा कि वो कर पाए अब हमारे एक मैं एग्जाम्पल दे मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था उसके माता पिता को वही मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा बचपन से अब वो लड़का किसी का एक्सीडेंट देखे तो बेहोश ही आ जाती थी फोन देखते बेहोश हो जाता था ऐसा व्यक्ति कैसे डॉक्टर में स्वभाव ही नहीं है उसका ऐसा साइंस पढ़ तो रहा है पता नहीं अब वो क्या करेगा आगे जाके घुस तो गया ही है अभी साइंस ही पढ़ रहा है ट्वेल्थ पास भी हो गई एमबीबीएस एडमिशन भी हो गया पर आगे जाके कैसा डॉक्टर बनेगा वो पता नहीं पर हमने देखा था वो कोई एक्सीडेंट में खून देखे तो चक्कर आ जाते थे उसको तब ऐसी कंडीशन में तुम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डॉक्टर बन जाए नहीं बन सकता है तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा स्वभाव हमारी रुचि हमारा इंटरेस्ट अलग अलग होता है और उसके अनुकूल ही हमारे यहाँ सभी संप्रदाय बनाए गए हैं और अपने अपने इंटरेस्ट से संप्रदायों में जाना चाहिए देखा देखी में या किसी के प्रेशर में तो आग्रह नहीं रखना चाहिए पर्टिकुलरली जब पुष्टिमार की बात आए तो शरण दीक्षा हम दे सकते हैं जब उसे रुचि हो बच्चे घर में जन्मे तो देनी चाहिए पर ब्रह्म दीक्षा दिलाने का आग्रह नहीं रखना जब तक वो खुद बच्चा अपने बड़ा हो जाए समझदार हो जाए महाप्रभु जी के सिद्धांतों को समझ ले फिर अगर उसे पसंद आए तो खुशी की बात है पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी पे और ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए कि वो पुष्टि मार्गी बने माता पिता के अंडर में कर सकते हैं हाँ, हाँ हो सकता है स्वतंत्र सेवा नहीं हो सकती है हाँ, तुम ये चाहो कि मैं अलग घर में रहूं या कहीं बाहर गांव रह ठाकुर जी पदरा के सेवा करूं ऐसा नहीं हो सकता है माता पिता के गाइडेंस में माता पिता के अंडर में रह के और तुम उनकी आज्ञा से वो जो बताए वो सब हो सकता है चरण स्पर्श भी हो सकते हैं सब कुछ हो सकता है मैं ऐसा कुछ नहीं है पर इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता है ब्रह्म संबंध के बिना क्योंकि अगर तुम्हें सेवा करने की इच्छा है तो फिर ब्रह्म संबंध ले क्यों नहीं लेते हो ये बात है पर वो सब समझ के महाप्रभु जी के सिद्धांतों को जान के और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि हम आगे जाके जो महाप्रभु जी के सिद्धांत है उनके अनुरूप हम करेंगे तभी लेना चाहिए तो ये खास संप्रदायों के विषय में ये बात थी अब जो दूसरी बात आई थी कि अब राजस गुण प्रधान जो है वो ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकते तो क्या करें तो हमारे जैसे मैंने बताया कि शाक्त संप्रदाय भी है और हर संप्रदाय में कुछ राजस था कुछ तामस था अंडर में होती है कि जैसे तुम देवी की उपासना करो जरूरी नहीं है कि तुम्हें बलि देनी है तुम्हें ये करना ही है हर संप्रदाय में ऑप्शन दिखाई जाते हैं सूर्य की उपासना करो और देवताओं की उपासना हमारे वेद शास्त्रों में इंद्र वरुण वगैरह देवताओं की भी उपासना के प्रकार है और उन देवताओं के उपासना के द्वारा भी मुक्ति मिलती है तो कहने का मतलब कि राजस गुण प्रधान लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी ये तीन व्यवस्था के रूप में मैंने ये बताया था बाकी राजस गुण प्रधान लोगों के लिए शाक्त संप्रदाय भी है सूर्य का संप्रदाय भी है जो अभी प्रिवेल नहीं करता है ज्यादा पर है और उसके अलावा और देवताओं के स्वतंत्र उपासना के भी उपाय हमारे यहाँ है इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि राजस लोगों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है शास्त्र ढूंढो अपने स्वभाव से लोग अपना इंटरेस्ट पसंद कर लेते हैं किसी को बताना नहीं पड़ता है कि तुम्हें क्या करना है तो ये भी समझना चाहिए इसमें और कुछ है पूछना है किसी को इसमें ऐसे दिखाया कि जो है जो उसके भक्त होते हैं उसको ही जो भक्त होते हैं उसको ही मानते हैं तो उसका भी जो होता है भी हैं देखो भक्त के देखो मुक्ति के लिए तो तुम्हारा निर्गुण होना कंपलसरी है किसी भी देव का उपासना करो जब तक तुम निर्गुण नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है मतलब यहाँ शिव जी वो तो भोगते वो मतलब उसको कुछ कामना नहीं है मुक्ति तो होगी कि नहीं होगी उसकी उसका वही फल होगा तुम्हें क्या चाहिए शिव चाहिए हम्म। शिव में मुक्ति होती है कोई पर शिव को ही परब्रह्म मानता है शिव की उपासना करता है पर अगर मुक्ति चाहिए तो तुम्हारे लिए निर्गुण होना कंपलसरी बढ़ता है आगे ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पूरा जीवन भर तामस ही रह जाए हाँ, होता, होता है, है। शुरू शुरू में जो हमारा स्वभाव हम नहीं कल बहुत से लोगों का उम्र होने पर अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाता है हाँ। अपने आप सब ठिकाने पड़ जाते हैं हम आलसी होते हैं पर जब नौकरी धंधा वगैरह की एज आ जाए तब सब दौड़ने लग जाते हैं अपने आप तो बात यह है कि गुण हमेशा परमानेंट तो ऐसा नहीं होता है कभी कभी परमानेंट भी होते हैं पर ज्यादातर केसेस में चेंज होता है उसमें ये इतना टाइट कंपार्टमेंट नहीं है वर्ण का टाइट है उसमें कोई अंतर नहीं आता है कभी भी जो प्रभु ने कर लिया वो कर लिया पहले वो उसमें कभी अंतर नहीं पड़ता है पर ये गुण का इतना टाइट नहीं है कभी होता भी है कि हमारा गुण बदले ही नहीं पर ज्यादातर चेंजेस आ जाते हैं पर मुक्ति तो तभी मिलती है कि जब हम निर्गुण हो जाए पुष्टि मार्ग में हमारे यहाँ भी तो यही है कृष्ण में अपने चित्त का प्रवण हो जाना व्यसनावस्था तक पहुंच जाना ये निर्गुणता का ही चिन्ह है तुम सात्विक हो ना तब भी तुम्हें व्यसन नहीं होगा तुम्हें निर्गुण ही होना पड़ेगा सभी गुणों से ऊपर उठ के जब हम हो जाते हैं जब और कोई भी गुण हमारे ऊपर असर ना करें पर हम अपनी इच्छा से गुणों को कंट्रोल करने लग जाएं, वो अवस्था पे ही मुक्ति होती है उसमें एग्जाम्पल जैसे लक्ष्मण जी का ले लक्ष्मण जी का ऐसा था कि वो छह महीना तक कुछ खाए पिए नहीं पानी तक नहीं छह महीना तक सोए नहीं तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था ये निर्गुणता की निशानी है कि तुम तुम्हें नहीं सोना है तो तामस गुण तुम्हें सोने के लिए कंपल्सन नहीं करेगा अब हमें तो थोड़ी देर आए तो नींद आने ही लग जाती तुम कितना जग सकते हो ये बताओ चलो एक रात तुमने पूरी जग ली दूसरी रात जग ली तीसरे दिन तो नींद आएगी कि नहीं आएगी तुमने एक दिन बहुत मुश्किल से निर्जला एकादशी कर लिया आज एकादशी है पानी भी नहीं पिया वो दूसरे दिन सुबह उठते ही पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ हो जाता है कि नहीं हो जाता है तो ये सब क्या है कि हम अपनी इच्छा से बिहेव नहीं कर सकते वो गुण हमसे बिहेव करवाते हैं कि अब तामसता तुम में बढ़ती है तो तुम क्लास में बैठो तब भी नींद आएगी ही आएगी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते चाहो तब भी आंख बंद होने ही लग जाती है तो ये सब चीजें क्या है कि हमारे गुण हमारे कंट्रोल में नहीं है गुण हमें कंट्रोल करते हैं जब तामसा बढ़ती है तो हमें नींद आ जाती है हमें गुस्सा आ जाता है हमें कंटाल आने लगता है सुस्ती आ जाती है सात्विकता बढ़ जाए तो लोगों को रात नहीं टेंथ स्टैंडर्ड के सुबह सुबह चार चार बजे भी पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं लगता है? पढ़ लेते हैं हम राजस गुण आ जाए हम कितने भी थके हुए रात को एक बजे दो बजे तीन बजे काम कर सकते हैं हम उत्साह वो काम करता है हमसे जब करवा लेता है वो तो ये सब क्या है कि हम अपने आपे में नहीं है कहने का मतलब हम हमारे कंट्रोल में नहीं है जब हम चाहें तब वो काम नहीं हो सकता है वो गुण जब तुम्हें काम करवाएगा तभी तुम वो कर सकते हो तुम कितनी कोशिश कर लो रात को कौन पूरी रात पढ़ सकता है ध्यान से एक ध्यान बन के कौन पढ़ सकता है नींद चाहिए तुम्हें रेस्ट चाहिए वो हमारी फिजिकल नीड है वो तामस गुण काम नहीं करेगा तुम्हें नींद नहीं आएगी तो आदमी पागल हो जाते हैं नींद नहीं आती लोग दवाई लेते हैं कि नहीं सोने के लिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऐसे काम नहीं कर सकती है इन गुणों के बिना भी हमें चलता नहीं है कहने का मतलब पर ये बात है कि वो गुण हमारे कंट्रोल में होने चाहिए यमुना ग्रंथ में महाप्रभु जी यही आज्ञा करते हैं कि तुम भले किससे कैसे भी हो तामसी हो राज को हो कुछ भी हो तुम्हारे में किसी गुण की प्रधानता हो कुछ भी हो कृष्ण की सेवा में अगर वो चीज तुम्हें बाधक नहीं बनती है तो तुम निर्गुण समझना अपने आप पुष्टि मार्गी के लिए इतना बहुत हो गया जब सेवा में ही नींद आने लग जाए या सेवा में सुस्ती आने लग जाए कंटा लाए कब खत्म हो छूटे ऐसी वृत्ति नहीं आए हमें हमेशा उस कार्य में हमारा मन लगा रहे प्रभु में हमारा ध्यान रहे कम से कम सेवा के समय में हमारा चित्त दूसरी जगहों पे भटके नहीं तो ऐसे पुष्टि मार्गी हमारे लिए बहुत हो गया उसके अलावा के समय में भले तुम कुछ भी करो पर तुम्हारे लिए जितना कर्तव्य रूप बताया गया है बाय प्रैक्टिस अथवा हमारे इंटरेस्ट से हमारी रुचि के कारण अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है हम कुछ एक्टिविटीज में अगर हमारा बहुत जैसे बच्चों को होता है क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा लगता है घंटों घंटों खेलवा लो उनसे कोई फर्क भूख प्यास भी उन्हें याद नहीं आती है ये क्या है कुछ चीज में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट हो तो हम ज्यादा समय भी उसे कंटिन्यू कर सकते हैं तो सेवा ऐसी चीज है कि तुम आदत डालो तुम्हें अगर वो अच्छा लग रहा है तुम्हें आनंद आ रहा है सेवा में तुम्हारा मन लग रहा है तो हम लंबे समय तक वो कर सकते हैं गुण कभी कभी जिन लोगों में ऐसे होते इसमें चौबीस वैष्णव की वार्ता में आती है कि एक पंडित आया बहुत बेटा बहुत पढ़ के आया शायद रुक्मिणी और उनके बेटे के प्रसंग में आता है कि बड़ी उम्र की माता थी और बच्चा था वो उन दोनों को बच्चा काशी से एकदम पढ़ पढ़ा के आया उसने माता से कहा तुझे क्या सेवा आती है से तू छोड़ मैं करूंगा सेवा तुझे तो कुछ नहीं आता तू तो अनपढ़ है तू तो गवार है तू क्या सेवा करेगी तू कैसे कृष्ण को जानेगी तुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे सेवा तो मैं जानता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ अब वो सेवा करने गया एक दिन की दूसरे दिन की तीसरे दिन की उसके बाद उसकी माता को उसने देखा तो वो अठारह साल की जवान दिखी उसको हाँ। तो वार्ता प्रसंग में एक में आता है शायद दूसरी भी शायद मिक्स हो गया ऐसा भी कुछ होगा पर एक वार्ता प्रसंग में ऐसा आता है कि उसको वो जवान देखे सेवा में तो ये क्या है कि हमारा शरीर तो अपने हिसाब से ही चलता है पर जिस काम में तुम्हारा मन लगता है वो तुम कितना ही तुमसे करवा लो तुम कर सकते हो बहुत लंबे समय तक भी हम कर सकते हैं लोगों की हॉबी होती है संगीत वगैरह सुनना करना बहुत पसंद आ जाए हमारे यहाँ भी सब बहुत से गोस्वामी बालक है रातों रात कीर्तन चलते रहते हैं उन्हें खाना पीना कुछ होश नहीं आता है शादी थी तो भोजन के लिए सबको बुलाना ही भूल गए खुद भी भोजन करना भूल गए सब कलाकार है पूरी फैमिली संगीतकार है अब इतना मन लगता है उनको पूरे दिन वो रागों में ताल में इन्हीं में उनका मन लगा रहता है कीर्तन चल रहे हैं उत्सवों पे रात के भोजन सुबह छह बजे होते हैं दोपहर के भोजन शाम को पांच बजे होते हैं वो चलता ही रहता है चलता ही रहता है तो ये सब क्या है तुम्हारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो भूख हो प्यास हो नींद हो कुछ भी तुम्हारे पे असर नहीं करती है तो हमारे लिए पर्टिकुलरली अगर हम थोड़ा देखें तो कि तुम ऐसा कृष्ण में अपना मन लगाओ कि कम से कम सेवा के समय में या प्रभु की सेवा में तुम्हारे मन में या तुम्हारा शरीर दूसरे सब मांग न करे इतना ही अगर हमसे हो जाता है तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है हमारे लिए तो इस बात को यहाँ समझना चाहिए संप्रदायों के विषय में खास कि हर संप्रदाय हमारे गुण हमारे स्वभाव के अनुकूल वो संप्रदाय बनाए गए हैं वो लोगों को विभाजित करने के लिए नहीं बनाए गए और प्रभु ने जो ये व्यवस्था बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई थी जिसे अब हमने बिगाड़ा है तो उसके रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं कि अब हम कहीं के नहीं रहे कहीं हमारा मन नहीं लगता हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सब उसका रिजल्ट है संप्रदायों के विषय में इस बात को गुण खास ये बात समझनी चाहिए गुण के विषय में किसी को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो तो भगवत गीता का जो खास एक अध्याय है गुणों के विषय में ही प्रभु ने आज्ञा की है तो वो अध्याय को मैं थोड़ा चाहिए तो मैं कल पर्टिकुलर बता दूंगी उस अध्याय का नाम तो उसमें ठाकुर जी ने सात्विक से तामस गुण और निर्गुण इन चारों व्यक्तियों के लक्षण कैसे होते हैं वो बहुत डिटेल बताया है तो थोड़ा देख लेना चाहिए हमें भी मजा आती हो देखे ना अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं तो वो मजा इंटरेस्ट का विषय मैं कल वो अध्याय का नाम बता दूंगी सब तो अपने आप को थोड़ा रीड करना बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो बहुत मतलब रोचक विषय है इसमें इतना अच्छा लगता है गुण को हम देखते हैं तो वो जीव उसे क्या खाना पसंद आएगा कैसे देव अच्छे लगते हैं कैसी प्रवृत्ति में उसका मन लगता है तो ठाकुर जी बहुत डिटेल से इन सब बात पूरा अध्याय उसी के लिए केवल इतनी बात और कुछ नहीं कि सात्विक राजस तामस और निर्गुण स्वभाव के लोग कैसे होते हैं तो इंटरेस्टिंग विषय है मैं कल बताऊंगी आपको अध्याय का नाम तो थोड़ा सा लोग देख लेना गीता जी के पुस्तक में बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो आज का विषय यहाँ रखते हैं इसमें कुछ किसी को ना समझ आया हो तो कल पूछ लेना જય જય ધન્વત પ્રણામ ધન્વત પ્રણામ ધન્વત પ્રણામ પ્રણામ રાજા